समादनीय विद्वदगण धर्म प्रेमी बंधुओं आपके समक्ष विषय उपस्थित है कि ईश्वर के साथ हमारे क्या क्या संबंध हैं उन संबंधों को समझना उन संबंधों को उचित रूप देना उन संबंधों के साधनों की गवेषणा और उनका प्रयोग उन संबंधों के सुधर जाने पर हम कृत कृत्य हो जाते हैं सफल हो जाते हैं इसको जानना उनके उचित न होने से हम विफल हो जाते हैं इसको भी जानना इसी के साथ साथ आप स्मरण रखिए जैसे ईश्वर के साथ हमारे संबंध कौन कौन से हैं और उन संबंधों का उचित रूप क्या है उन संबंधों को हम ठीक जान के उचित रूप में ईश्वर के साथ अनुरूप व्यवहार करें ऐसे ही मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग प्राणियों के साथ भी जानना चाहिए क्या समझ में आया सुनाओ कौन सुनाएगा नहीं आया और समझ में फिर आता हूं समझ में आ गया हो तो सुनाओ ईश्वर के साथ संबंध को हम जानते हैं और अन्य मनुष्यों के साथ जानते हैं वैसे भी जो कीट पतंग आदि है पन प्राणियों के साथ भी जाने और को व्यवहार जैसे ईश्वर के और हमारे क्या क्या संबंध है उनमें औचित्य क्या है अनुचितता क्या है ऐसे मनुष्य वर्ग के साथ फिर पशु आदि प्राणी वर्ग के साथ हमारे क्या क्या संबंध है उन संबंधों को जानना उन संबंधों को उचित रूप देना भी अनिवार्य होगा अब क्या समझ में आया नहीं आया आप सुनाइए जैसे हमारा ईश्वर के साथ संबंध है हम्म। वैसा ही अन्य मनुष्यों के साथ भी होना चाहिए और जो कीट पतंग पशु पक्षी आदि है हम्म। उनके साथ भी हमारा उचित व्यवहार होना चाहिए आ गया समझ में आया या नहीं आया अब प्रकृति विकृति प्रकृति और विकृति संसार सृष्टि इस सृष्टि के साथ हमारे क्या क्या संबंध है और उनका उचित रूप क्या है उनका उपयोग किस रूप में किया जाना चाहिए शरीर इंद्रिया मन अंतकरण बुद्धि बाहर की सृष्टि सब आ गई उसके साथ हमारे क्या क्या संबंध है उन संबंधों को जान के उससे हम क्या क्या लाभ उठा सकते हैं उन संबंधों को न जान के हमारी क्या क्या हानियां होती है इन जड़ पदार्थों के साथ भी हमारा क्या क्या संबंध है वो उसको उचित रूप में जान के प्रयोग में लाना भी अनिवार्य होगा हाँ क्या समझ में आया आप बोलेंगे तीसरे वर्ग में क्या समझ में आया नहीं आया हो तो दूसरे से पूछे नहीं आया और किस किसको आया हो वो सुनाएगा जिसको समझ में आया हो वो सुनाएगा हाँ जी बोलो इसी प्रकार प्रकृति और विकृति जगह को जान करके उनके लाभ और हानि को जान करके उनके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए उनसे जो लाभ लेने योग्य है वो लेना चाहिए और जो उससे हानि होती है उससे दूर करना चाहिए उदाहरण क्या बनेगा जैसे मन इंद्रिय शरीर आदि हमारे हम्म। लक्ष्य में साधक है हाँ। तो इनसे हमें लाभ लेना चाहिए और जो इनसे जो हम उल्टे कर्म करते हैं दुरुपयोग करते हैं उसको छोड़ देना चाहिए मन इंद्रिया शरीर से जो हम विपरीत कार्य करते हैं हानिकारक उनको छोड़ना उचित कार्यों को करना फिर बाहर के पदार्थ खाने पीने और ये बिजली पानी भवन आदि भूमि आदि और जो बाहर के उनका उपयोग भी इसी प्रकार से आपके कमरे में एक बिच्छू आ गया और बिच्छू को देख करके सारे आप इस प्रयास में लग गए कि इसको मारा कैसे जाए क्यों जी क्या नहीं समझा काटा तो नहीं है ना अब तक किसी को है जी और सारे प्रयास में लगे इसको मारो डंडा लाओ ये लाओ लग गया नहीं लगे आपने कभी ये देखा ये भी ईश्वर का पुत्र है और हमारा भाई है या नहीं समझा ये संबंध उस बिच्छू के साथ कहां रहे आप होता है क्या ऐसा ऐसा संबंध देखा जाता है क्या है अच्छा यदि आप उस बिच्छू को ईश्वर की दृष्टि में हमारे तुल्य प्राणी नहीं समझते वो भी ईश्वर का पुत्र हुआ हम भी ईश्वर के पुत्र हुए और उसको दंड मिला हुआ है ये तो ठीक है और उसे बचना भी चाहिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है आक्रमण करे तो आप उसको हटा सकते हैं और और आकर करे तो द्वेष की भावना से उसको मार भी सकते इसमें कोई आपत्ति नहीं पर जिस भावना से मारता है व्यक्ति या जिस भावना से उसको देखता रहता है वो उसकी भावना उचित भावना नहीं बन पाती जैसा ईश्वर दंड तो देता है कहीं बिच्छू बनाता है तो कहीं सुअर बनाता है पर ईश्वर के मन में ज्ञान में कहना चाहिए ईश्वर के ज्ञान में क्या हम जैसी भावनाएं विचारधाराएं होती है क्या कभी किसी प्राणी के प्रति होती है या नहीं होती जब नहीं होती तो हमने ईश्वर के तुल्य यदि स्वभाव नहीं बनाया जैसा ईश्वर का प्राणियों के प्रति तो हम ईश्वर के साथ आबद्ध नहीं हो सकते ईश्वर जैसा स्वभाव बनाना पड़ेगा दंड भी देता है वो उचित देता है भले के लिए देता है तो ईश्वर व्यक्ति कहां ध्यान देता है समन्वय तो करना होता है जैसे कि मच्छर है बिच्छू है और आक्रमण करते हैं उनका स्वभाव है और वो जानते भी नहीं उनको तो डर लगता है या क्रोधी स्वभाव उनका बना हुआ दोनों बातें हो सकती है तो उसमें तो उनसे अपनी रक्षा करना और उनको उचित दंड भी दे देना इसमें कोई बाधा नहीं आप कर सकते हैं पर जैसे ईश्वर की दृष्टि है उनके प्रति दंड देने की भला चाहने की ऐसी दृष्टि हमारी होनी चाहिए समझ में आ गया नहीं आया तो फिर हमारा स्वभाव ईश्वर के साथ जुड़ जाएगा मिल जाएगा आपके साथ कुछ विद्यार्थी रहते हैं उसमें दूसरे में कुछ दोष है कई बार वो आपको दुख दे देता है ऐसी घटना होती रहती है एक दो बार ऐसे करने से तो आप क्या करते हैं उसे घृणा करने लगते करते या नहीं करते और आगे बढ़ते तो उसका बुरा चाहने लग जाए उल्टा सीधा सोचते हैं या नहीं सोचते आप बताओ अपना अपना स्वभाव ऐसा है या नहीं ईश्वर तो ऐसा नहीं सोचता ईश्वर को कोई गाली भी दे देवे जैसे या उसकी आज्ञा भंग करता ही रहता है या नहीं करता तो ईश्वर तो जैसे आप इस प्राणी के प्रति सोच रहे हो ऐसा तो ईश्वर नहीं सोचता उसके प्रति उनका भला ही चाहता है यद्यपि उसको दंड भी देता है ये तो ठीक है पर उसका भला ही चाहता है उसके प्रति द्वेष भावना उसके ईश्वर में नहीं आएगी आत्मनिरीक्षण से इन बातों का पता चल जाता है आत्मनिरीक्षण करते रहिए आप और पता चलता जाएगा अब ऐसी स्थिति है अब ऐसी स्थिति है पता चलता रहता है उसको सुधारता जाता है उल्टे स्वभाव को हटाता जाता है ये देखता है कि ईश्वर के प्रति कैसा व्यवहार करता है अच्छा मैं ऐसा करता हूं या नहीं करता ऐसा तुलनात्मक अध्ययन करता रहता है ईश्वर के साथ जीवों के साथ प्रकृति विकृति के साथ ज्ञान बुद्धि पूर्वक ये व्यवहार इस रूप में उसको संतुलित ठीक बना देना चाहिए इन व्यवहारों को ठीक करने के लिए हम साधनों के तीन वर्ग बना लें तो उसमें सब आ जाएंगे ज्ञान कर्म उपासना तीन आपके यदि ठीक होते जाते हैं तीन तो ईश्वर अथवा जीव या प्रकृति विकृति के साथ जितने भी संबंध है हमारे उनका उपयोग उनसे उपकार लेने के वो सुधरते चले जाएंगे ज्ञान के क्षेत्र में जितना परिश्रम करना चाहिए व्यक्ति को ज्ञान हमारा तीन विषयों का प्रमुख रहता है ईश्वर जीव प्रकृति का और उन तीनों के विषय में जो ज्ञान विज्ञान चाहिए व्यक्ति को उसके लिए वो जो उचित परिश्रम करता है वो तो व्यक्ति उस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर लेता है जो उचित परिश्रम नहीं करता वो नहीं कर सकता अब कर्म बुरे कर्म अच्छे कर्म दो विभाग बनाओ फिर आगे चल के सकाम कर्म निष्काम कर्म बनाओ बुरे कर्मों को तो नितान्त छोड़ देना ये एक अलग विभाग बन गया अच्छे कर्मों में आप सकाम कर्म को न करके निष्काम कर्म को करें आप कुछ विद्यालय का कार्य करते हैं और कोई कुछ करते हैं उसके साथ साथ सकामता निष्कामता लगभग जुड़े हुए रहते हैं आप बताइए आपका क्या अनुभव हम्म? सकामता को कैसे समझे आपने सकाम कर्म इसे क्या समझते हैं आप बताइए प्रशंसा की इच्छा आदि हाँ देखिए हम कहते हैं जो कर्म हम करते हैं वो सकाम कर्म की कोटि माया ईश्वर ईश्वर प्राप्ति करने कराने के लिए जो हम कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म की कोटि माते आते हैं अब आत्मनिरीक्षण करें जब कोई भी शरीर से वाणी से और धन आदि से आप किसी का उपकार करते भला करते हैं सहायता देते हैं उस समय आप आत्मनिरीक्षण से देख पाएंगे मैं इसके बदले में कोई फल चाहता हूं या नहीं लाऊ आप अपना बताएं जो कोई कार्य जब आप करते हैं तो आप उसके बदले में आप उसका फल लौकिक चाहते हैं या नहीं चाहते कौन बताएगा नहीं? आप बताएं अपना आप क्या चाहते हैं उस समय हाँ है जी आप आप अपना बताइए या डरते हैं आप बताते हैं आप डरते हो तो वैसे बताओ हुँ? हम्म? दोनों तरह के भाव आते हैं क्या है संस्कार उठते हैं और उनको दबा दिया जाता है तो वैसे प्रयास ही करते हैं कि कोई भी लौकिक कामना ना उठे फिर पुनरअपी संस्कार वशात कभी कभी ऐसा विचार लेते हैं और उसको दबा देते हैं असल अच्छा, को दबा देते हैं आप क्या करते हैं आप कहीं नए आए होंगे आप बताओ क्या करते हैं अधिकांश निष्काम भावना रहती है